इस संसार जगत में अनेक प्रकार के क्लेश हमेशा रहते हैं तो भगवान श्री हरि के चरण में आश्रय लेना है आश्रय लेना है श्रवण कीर्तन और सेवा भक्त संग ये सब भक्तियां के द्वारा तो इस श्रवण कीर्तन अनुष्ठान सभी अनुष्ठानों में हम थोड़ा टाइट प्रोग्राम रखते हैं जिससे हम बाकी समय नहीं मिलेंगे चौबीसों घंटे में सोते का समय भी स्वप्न में श्रवण कीर्तन और सेवन करना चाहिए अगर कुछ अवकाश मिलते हो तो जरा सा गपशप मत करो कुछ सेवा करो श्रवण कीर्तन करो हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय कैसे करना चाहिए हम्म। हम वृंदावन जाते हैं दर्शन के लिए हम <coughs> सूरत नहीं जाते दर्शन के लिए दिल्ली नहीं जाते दर्शन ऐसे आधुनिक फैशन में टूरिज्म जैसे पाश्चात्य देश के लोग भारत आते हैं टूरिज्म के भारत और भारत आके देखते क्या देखते वो आगरा में वो ताजमहल आप सब सब वृंदावन जाएंगे सब कोई नहीं जो इस चीज में वृंदावन नहीं है नहीं आप नहीं रहे मतलब स्थूल शरीर नहीं रहे हैं तो आप सब गए हैं ब्रज दर्शन के लिए कोई गए हैं आगरा में ताजमहल का दर्शन मैंने कई बार देखा दूर से वो आगरा गया था दो तीन बार प्रचार तो के लिए एक बार वो हमारा संकीर्तन गाड़ी रिपेयरिंग करने के लिए गया था वो बहुत दूर से और क्या देखते हैं वो क्या बोलते खजरू हाउ खजूरा खजूर लेकिन भारतीय लोग नहीं जाते मैं लंदन के हूँ वो पूरी दुनिया से लोग आते हैं लंदन का दार्शनिक स्थान हम देखने के लिए Houses of Parliament London Tower Westminster Bridge इत्यादि तो मैं पहले बार गया था लंदन टावर इसको से जुड़े होने के पश्चात बुक डिस्ट्रीब्यूशन टॉरिस का बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए और ऐसे और भारत में भी ऐसा है कि जो गंगा के पास रहते हैं जो कभी गंगा से नहीं करते हैं ऐसे लोग ऐसा बोलना है बंगाली में हिंदी में भी ऐसा बोलते हैं ऐसा क्या बात है एक्चुअली <coughs> है ही लोग जो गंगा के पास रहते हैं जो गंगा स्नान करते और भी लोग हैं जो सोचते हैं कि गंगा पास में है कभी भी गंगा स्नान कर सकते हैं तो कल करूँगा और इस प्रकार आप पूरी जीवन जाते हैं और एक बार भी गंगा स्नान तो ऐसे लंदन के लोग जो लंदन में रहते हैं उसकी कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है लंदन का दार्शनिक स्थान देखने के लिए कुछ भी नहीं तो न्यूयॉर्क जाते हैं न्यूयॉर्क का दार्शनिक स्थान देखने भारतीय संस्कृति में ये सब भौतिक बड़ा बिल्डिंग या दार्शनिक स्थान तो दार्शनिक नहीं होना यात्रा का मतलब तीर्थ यात्रा अभी वो वेबसाइट है नहीं यात्रा डॉट कॉम वो प्लेन बुकिंग के लिए लेकिन वैदिक कोश यात्रा का मतलब तीर्थ तीर्थ यात्रा तो हिंदू लोग चार धाम यात्रा कहते हैं ब्रज धाम यात्रा पूरी धाम यात्रा अयोध्या और दक्षिण भारत में तिरुप तिरुपति बहुत प्रसिद्ध है वो मुसलमान भी अजमेर जाते हैं बांग्लादेश से बहुत मुसलमान जाते हैं अजमेर आज में एक क्या बोलते हैं दार्ग उसका मतलब समाधि एक पीर मुस्लिम पीर का, समाधि समाधि और जैन अबू जाते हैं और ब्रह्म कुमार का पालीतान गुजरात में अबू भी जाते हैं जैन ऐसे ऐसे कहीं कोई स्थान में जैन क्षेत्र स्थान ब्रह्म कुमारी ब्रह्म कुमारी अब मैं फारसी कहा जाता ऑफिस गुरुद्वारा हम्म? बापी के पास और सिख अमृतसर जाते हैं और हेमकुंड ऐसे कहीं सिख पवित्र स्थान फाउंडर साहिब जिससे हम अभी जाके आया एक दार्शनिक तीर्थ स्थान है सिखों के लिए क्रिश्चियन कहा जाते हैं भारत में Buddhist both Gayas are there. Big लेकिन क्रिश्चियन नहीं जाता ऐसे यात्रा नहीं कर रहे क्रिश्चियन और मुसलमान का हज करते हैं बालाजी की तरह मतलब वो पैसा जो बालाजी को देना है तो हज फंड में देना है आपको नहीं मालूम वो हज फंड जो जो भारत का सरकार मुसलमानों को हज जाने के लिए पैसे देते हैं वो पैसे कहाँ से है हिंदू मंदिरों का प्रणाम ही सब तो सरकार से संचालित है दूर संचालित है कुछ मंत्रियों का जेब में जाते हैं कुछ मुसलमानों का जाते हैं कुछ क्रिश्चियनों के जा, को जाता है ऐसे पोल्ट्री फार्म लोन लोन के लिए ऐसे पोल्ट्री फार्म वाइन शॉप ये सब चलाने के लिए बालाजी का पैसा जाता है इसलिए प्रभुपाद जब तिरुपति गए नहीं हैदराबाद में और एपी कुछ एपी आंध्र प्रदेश के मंत्री प्रभुपात के पास है उसमें एक था इंडाउमेंट्स मिनिस्टर उसका मतलब जो ये सब मंदिर जो सरकार का हाथ में है उसका सब संचालन करते हैं वो पैसा भी और सभी मंत्रों को बोले कि बालाजी का पैसा बालाजी की सेवा में लगाना चाहिए खास भगवत गीता का प्रचार में देखिए इन भगवत गीता का प्रचार चौड़ के मुसलमान प्रचार कर anyway, हम वृंदावन के बारे में कहना चाहते हैं कि हम वृंदावन जाते हैं किससे क्योंकि वो पवित्र स्थल है कितना पवित्र है वृंदावन वो अवर्णनीय है श्री कृष्ण की चिन्मय भूमि है वास्तव में वृंदावन धाम इस भौतिक जगत के अंतर्गत नहीं चिंतामणि प्रकरण सर्वस्व वृक्ष लक्षाधिपादम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम गोविंद गोविंदवादी पुरुषम समृहम हमारी पुरुष गोविंद का भजन करते हैं जिनके चिंतामणि धाम में सब बिल्डिंग सब मकान सब घर सब प्रकर चिंतामणि पत्थर से बनाना बनाते हैं और सब वृक्ष कल्प वृक्ष चिंतामणि और कल्प वृक्ष दोनों का लक्षण है कि भक्तों की सभी इच्छाएं की खेती करते और भक्तों का लक्षण है कि उनकी इच्छा केवल श्री कृष्ण की पसंद है तो वहां पर असंख्य सुराबी गाय है और ये सब ज्ञान के चारण करते हैं सुराबी अभिपाल नंदन गोविंद श्री कृष्ण और असंख्य लक्ष्मी गोपी श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा करते हैं तो वो वृंदावन है वृंदावन के दो मुख्य अभिव्यक्ति है एक है गौरव वृंदावन और दूसरा है गोकुल वृंदावन अथवा भूम वृंदावन भोग वृंदावन वो गौरव वृंदावन जो वैकुंठ के ऊपर स्थित है उससे अभिन्न है परंतु गोकुल वृंदावन इस भूमि पर अभिव्यक्त है इसलिए भूम वृंदावन बोलते लेकिन उसके अलावा कोई अंतर नहीं है गोकुल और गौलव और श्री कृष्ण जब इस भौतिक जगत में आते हैं हमको उद्धार करने के लिए तो इस उस वृंदावन भूमि में लीला विलास करते हैं और आज तक उनके सब मुख्य मुख्य गीला स्था और प्रकट है उनकी जन्मभूमि मथुरा में है वृंदावन से थोड़ी और गोकुल जिनमें जिसमें श्री कृष्ण उनका बाल और सेवा कहीं रासकुट स्थानीय है जिसमें श्री कृष्ण लीला किया है केशी घाट वंशी बाट धीर गोवर्धन ये सब लीला स्थानीय है अभी तक और इसलिए भक्तजन वृंदावन जाते हैं ये सब लीला स्थान का दर्शन करेंगे के लिए जिससे वे प्रेरित होंगे कृष्ण भक्ति में जिससे उनका नीला स्मरण होगा जिससे वे राजराज सूत श्री नंद कृष्ण का आशीर्वाद मिलेंगे और ब्रजवासियों का आशीर्वाद मिलेंगे और व्रज रज का आशीर्वाद जिससे भी तीर्थ यात्रियों भी व्रज भक्ति अनुशीलन करके कर सके तो इसलिए हम व्रज दर्शन कहते हैं सामान्य परिप्रेक्ष्य में वृंदावन उत्तर प्रदेश का एक शहर और उत्तर प्रदेश में वो तो सभी नागर ऐसे हैं कुछ रोड है कुछ ट्रैफिक जाम है धूल बहुत है कुछ सुअर भी है रास्ते और कुछ बाजार है और लोग खाते सोते पीते हैं जन्म लेते हैं मृत्यु प्राप्त होते हैं तो साधारण दृष्टिकोण में वृंदावन और किसी भी दूसरे नागर में खस अंतर नहीं है वृंदावन में मुख्य व्यापार है भक्ति और उससे वो लॉय बाजार तो अधिकांश दुकान कृष्ण का चित्र और मूर्ति गोपी चंदन तुलसी माला ऐसे सामग्री दिखते हैं जो कृष्ण भक्ति के लिए ऐसे सामग्री तो ऐसे ही सामान्य दृष्टिकोण से वृंदावन का दर्शन नहीं भक्तों जो वहां जाते हैं जाते हैं श्रद्धा के साथ कि इस भूमि साधारण भूमि नहीं है इस भूमि श्री कृष्ण की लीला स्थली है और श्री कृष्ण से अभिन्न है और इसलिए कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए वहां आ जाते हैं यदि हम वृंदावन जाते हैं तो साधारण टूरिस्ट की भावना है तो हम वृंदावन जाएंगे वो सभी चीज देखेंगे और कैमरा लेके आ रहे हैं और ये मेरा फोटो है गोवर्धन में ये मेरा फोटो है सेवकुंज में ये मेरा फोटो है एक मंदिर है क्या महंत के साथ तो ऐसी भावना से ही व्रज दर्शन नहीं होता वास्तव व्रज दर्शन कैसे होते हैं इसके बारे में कहीं सा पहले सूरत में मैं लेक्चर दिया था वो अरविंद प्रभु का angle वो uh, गौरंगाबल्ली थे हो गए वो कीर्तन के ऊपर जिसमें वंश दर्शन के बारे में वो बात आते हैं कि विषय क्षय हवे शुद्ध हवे मन तब हम हैरव श्री वृंदावन राधा चार उसको बताया कि वो कथा सुनने से उनकी कृष्ण भक्ति भावना कैसे भक्ति करना है तो पूरा थोड़े थोड़ी बाधित हो गया तो लगता है वो है लाइब्रेरी में उसको निकालो होगा नहीं तो विश्व इच्छाया कभी शुद्ध हवे मन तभी हम हैरब और श्री वृंदावन इस धूल अंकों से ही व्रज दर्शन नहीं होते प्रमाजन छोड़ित भक्ति विलोचने न श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदवादी पुरुषोत्तम जो शुद्ध भक्त है सदैव ब्रज दर्शन करते चाहे भी वडोदरा में या अमेरिका में जहां भी हो सदैव व्रज दर्शन है शिल प्रभुपाद वृंदावन में रहते थे और व्रज चौड़ के अमेरिका गए व्रज को नहीं छोड़ वृंदावन लेके अमेरिका गए शिल प्रभुपाद तो फिर भी अमेरिका में भी शिल प्रभुपाद इस क्या है कि एक्चुअली ये सब अमेरिका हो मुझे पसंद है मेरी इच्छा है वापस वृंदावन जाना परंतु मेरे गुरु महाराज का आदेश है पाश्चात्य देशों में कृष्ण भक्ति प्रचार करना इसलिए यहाँ आया हूँ परंतु मेरा हृदय की इच्छा है ब्रजवास का वापस ब्रज तो शुद्ध भक्तों प्रेम भक्ति विलोच संधान प्रेमांजन चरित्र वो अंजल लगाते हैं अंक वो अंचल क्या है प्रेम और वो प्रेम युक्त अंकों से सदैव उनका हृदय में व्रज दर्शन करते हैं जिसमें श्याम सुंदर श्री कृष्ण अचिंत्य गुण स्वरूप श्याम सुंदर सदैव धाम में लीला विलास है तो प्रेम के नेत्रों से हम लास्ट ऑफ ब्रज दर्शन कर सकते हैं तो वो प्रेम नेत्र प्राप्त करने के लिए अनुकूल है ब्रज दर्शन हम ब्रज का दर्शन नहीं कर सकते तो क्योंकि विषय क्षय कभी शुद्ध हो होगा जब तक मन शुद्ध नहीं है जब तक भौतिक इच्छाएं में मन में <clears throat> तब तक वास्तव दर्शन नहीं होते तो जब मन शुद्ध है तब वास्तव गज दर्शन होते तो कैसे व्रज दर्शन मिलने है तो व्रज दर्शन प्राप्त करने के लिए अनुकूल है व्रज दर्शन इसका मतलब क्या है तो व्रज जन हम अच्छी तरह व्रज दर्शन नहीं करते हैं परंतु व्रज दर्शन करने से वृंदावन धाम जानने से हम धीरे धीरे अधिका प्राप्त करेंगे व्रज दर्शन करने के लिए जैसे शुद्ध नाम हरिनाम करना कैसे है वास्तव नाम जब कैसे करना है वो वास्तव हरि नाम तो मुंह से नहीं आते शुद्ध हृदय से आते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध नहीं है उसमें काम क्रोध लोभ मोह मादा मात्सार्य वो सभी प्रकार का दूषण है तो कैसे हरिनाम वास्तव हरिनाम करना है तो हरि नाम करना चाहिए हरि नाम करने से अफक व अवस्थ में हरि नाम करने से धीरे धीरे हम कृपा मिलती है जिससे हम वास्तव हरि नाम कर सकेंगे तो ऐसे ही खाली देखना से टूरिस्ट था भाव से हम शुद्ध नहीं होंगे और यदि हम मशीन जैसे ऐसे जब करेंगे तो ऐसे जब करने से फायदा होते परंतु पूरा कल्याण होते यदि हम नाम लेने के साथ ब्रज दर्शन करने के साथ प्रार्थना करते हैं इसलिए इस कीर्तन में विश्वाचार्य कबीर सिद्ध हरिना नरोत्तम दास कहते हैं कि श्री रूप रघुनाथ पदे चार आश प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास नरोत्तम दास सदैव प्रार्थना करते थे वो व्रज दर्शन थे तो इस प्रकार हमें नाम जाप का समय प्रार्थना कृपा के लिए प्रार्थना के साथ नाम जाप करना चाहिए और व्रज दर्शन करने का समय तो प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नंदन नंदन कृष्ण हे ब्रजवासियों हे ब्रजराज मैं अनाधिकारी हूं मैं अयोग्य हूं इस पवित्र धाम में प्रवेश करने के लिए इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी कृपा से मैं योग्य हूंगा तो इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए विषय इस विषय कैसे ब्रज दर्शन करने हैं बहुत विशाल विषय है क्योंकि <coughs> कैसे वज दर्शन करना है कैसे भक्ति करना है तो दो प्रश्न तो लगभग एक ही है किसी भावना से भक्ति किसी भावना से वज दर्शन करना है इसको समझना चाहिए तो केवल अंकों से स्थूल अंकों से ब्रज का आसन नहीं करना तो इसलिए एक मार्गदर्शन बनना चाहिए इस पुस्तक में श्री भक्ति सिद्धांत वैभव उसमें तो एक प्रबंध है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की शिक्षा कि कैसे तीर्थ यात्रा करना है कैसे व्रज दर्शन करना है कैसे नवदीप परिक्रमा करना है किसी भावना से करना है उसमें आप थोड़ा लंबा वर्णन मिलेंगे तो कैसे व्रज दर्शन करना है तो उसमें मुख्य उपदेश है कि व्रज दर्शन करना चाहिए जैसे भक्ति करना चाहिए मार्गदर्शक के अनुसार यदि हम वो रिक्शा वाला से बोलते तो मुझको व्रज दर्शन लेके जाओ तो रिक्शा वाला हमको लेके जा सकते लेकिन हमको क्या बता देगा और ऐसे ही फंड है पेशधारी फंड तो हमको रहेगा कि इधर कृष्ण वो लीला के वो दूसरी लीला की किए है लेकिन वो लीला ये सारी लीला का गहरा अर्थ क्या है और रिक्शा वाला हमको नहीं बता सकता और पंडा हमको नहीं बता तो पहले बोला कि हमें ब्रजवाज नंदन श्री नंदन नंदन कृष्ण ब्रजवासियों और ब्रजराज से प्रार्थना करने चाहिए कृपा प्राप्त करने के लिए तो ब्रजवासियों का क्या मतलब है तो ब्रजवासी एक प्रकार का ब्रजवासी है ये लोग जो जन्म लेते हैं वृंदावन में उसमें केवल मनुष्य जाति नहीं है सब पशु पक्षी पैर मच्छर भी है सब ब्रजवासी है परंतु मुख्य ब्रजवासी कौन है इसको समझना चाहिए हमें शिल प्रभुपा जैसे ब्रजवासी का मार्गदर्शन लेना चाहिए ऐसे पंडा या प्राकृतिक सहज जो ब्रजवास करते हैं तो उनका उपदेश लेने से हमारी भक्ति भ्रष्ट भ्रष्ट हो जाएगी तो वास्तव ब्रजवासी से मार्गदर्शन लेना चाहिए जो राज्य में जानना लेते हैं वो उनका भाग्य है परंतु उनमें बहुत कम है जो योग्य है हमको वास्तव मार्गदर्शन देने के लिए व्रजवासियों सामान्यतः उनकी धारणा है या उनमें बहुत इसी धारणा की राधा और कृष्ण हमको पालन और पोषण करते हैं और कैसे हमको पालन करते हैं तो हमारे बीच बहुत यात्री बेच देते हैं और यात्रियों से हम पैसा निकालते हैं यही कृष्ण की कृपा है जिससे हम ऐसे बच बचते ऐसे सोच कि हमारा हक है ये सब यात्री हो सही से में करो ये कृष्ण की कृपा है हमको क्योंकि हम ब्रजवासी है और हम ब्रजवासी है इसलिए हम कुछ भी कर सकते और कृष्ण हमको रक्षा कर शायद कृष्ण रक्षा करेंगे लेकिन हमें उस प्रकार का ब्रजवासी का आश्रय लेना चाहिए जिनका हृदय में पथिक जीवों का कल्याण इसी धाम है नहीं है कि कैसे आने वाले यात्रियों से हम पैसा मिल सके वास्तव ब्रजवासी है जो अन्य जीवों को ब्रजवास प्रदान करना चाहते हैं जो अन्यों को कृष्ण भक्ति प्रदान कहते हैं तो इस प्रकार का ब्रजवासी का आश्रय लेना चाहिए और दूसरे प्रकार का ब्रजवासी जो केवल आपन हित के बारे में सोचते तो उनसे हम कैसे हित मिलेंगे तो इसलिए प्रभुपाल जैसे ब्रजवासी का आश्रय लेना चाहिए हम्म, दूसरा प्रश्न है वृंदावन एवं गोवर्धन क्रमिक्रमा क्यों करने क्या है करनी चाहिए जन्म क्या कैसे भाव होना चाहिए यमुना स्नान का हम्म? महात्मा तो ये सब का महात्म्य है ये सब करना है वृंदावन में एक्चुअली एक बार शिव प्रभुपद बोले कि एक पूर्व ब्रज धाम कृष्ण बालाराम के अंदर है कृष्ण बालाराम मंदिर और एक्चुअली यदि हमारा साक्षात्कार है कि इस मंदिर में भी है क्योंकि राधा है कृष्ण है उनकी सेवा के लिए आयोजन है शिल प्रभात ऐसे बोले कि शिल प्रभात इतना अच्छे नहीं लगते वो शिल प्रभात का वार्तालापों में आप मिल सकते कि उनके शिष्यों बार बार कृष्ण बलराम मंदिर से बाहर गए यात्रा करने के लिए शिव प्रभा की इच्छा थी कि विदेश से भक्तों जो ब्रज आए हैं तो का सेवा करने के लिए आएंगे इस जगह दर्शन करना दूसरा जगह दर्शन करना तो हमेशा यात्रा करने से भक्ति कैसे होती है भक्ति का मतलब है सेवा शिल प्रभुपाद स्वयं जब व्रज परिक्रमा गए गए उस समय आदिक्षित वो वृंदावन परिक्रमा मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर he आयोजित Raj परिक्रमा श्रील प्रभुपाद एक दिन के लिए गए क्योंकि व्यापारी थे उस समय शुद्ध भक्त थे उस समय उनका शुद्ध भक्ति और महिमा प्रकट नहीं हुई तो शिल प्रभा केवल एक दिन के लिए गए हैं और उस दिन वो सभी शिविर शिविर से एक यात्रा निकाल गए खुशी यात्रा कर खुशी में वो अनंत शेष भगवान का मंदिर है तो भक्ति सूदन सरस्वती ठाकुर उस दिन नहीं गए कोशी दर्शन करने के लिए वो शिविर में रहते थे और उस दिन वो अनाउंस हुआ कि वो सभी भक्तों कोसी दर्शन के लिए जा सकते हैं या गुरु महाराज की कथा सुनने के लिए यहाँ रह सकते हैं और लगभग सभी भक्त तो उसी दर्शन के लिए गए हैं और शिल प्रभुपाद भक्ति सरस्वती ठाकुर की कथा सुनने के लिए रहा तो उसी दर्शन नहीं की शिल प्रभुपाद बोले कि नंदे का दर्शन करने से क्या था उदाहरण अच्छा हो मैं गुरु महाराज की कथा सुन और बत्तीस के अनुसार से ठाकुर की कथा तो लगभग दो घंटा काल गिर जाती और शिल प्रभात बोले कि उनकी कथा में बहुत कम था जो मैंने समझा क्योंकि उनकी भाषा बहुत कठिन थी परंतु मैं नहीं गया था बैठ के सब कुछ श्रवण किया था और उसके शायद दो तीन महीने के बाद प्रयागराज शिलोपत इलाहाबाद में प्रसन्न रहते थे तो वो गौड़िया की भक्तों इलाहाबाद गौड़िया भक्त के भक्तों भक्ति अभय चरण दे उनका नाम था अभाईचानंद उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मुलाकात की कि ये भक्त है वो योग्य है हरे नाम के लिए और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि मुझे पहचान उसको लक्ष्य वो श्रवण करने वाले श्रावण से ही नहीं जाते तो एक बार भाई चरण दे भक्ति श्री राम सरस्वत ठाकुर की कथा का श्रवण किया क्योंकि क्या है तो बहुत कम भक्त थे जो उस दिन श्रवण किए और उनमें बहुत जो कथा के बीच चले गए कुछ ऐसे कुछ ज्योति था ऐसे कुछ भक्तों का लेकिन प्रभुपाद पूरी कथा सुन रहे और उसके बाद भक्ति ठाकुर ने कहा मुझे बचाना है उसको उसको देखा कथा सुनते हैं नहीं जाते हैं कथा के बीच और एक साथ आभाई चौराही को हरिनाम और पंचरात्र की दीक्षा दी क्योंकि श्री प्रभुपाद का गुण था भक्ति से सरस्वती ठाकुर लक्ष्य की की शालन करते हैं और श्रील प्रभुपाद बाबा बोले कि चूंकि ने अच्छी तरह श्रवण किया था मेरे गुरु महाराज का बच्चा इसलिए मैं अभी अच्छी तरह कीर्तन कर सकते कीर्तन का मतलब नाम कीर्तन गाना और विशेषकर कृष्ण भक्ति प्रचार कीर्तन तो श्री प्रभुपाद कोसी अंकों में से दर्शन के लिए नहीं है कान में से दर्शन के लिए उनके गुरु के चरण के समीप है भागवत ने श्रीमद भागवत ने कहा गया है श्रुतीक्षित पथ देखना श्रवण करने से भगवत दर्शन कैसे करने हैं अंकों में से कस अंकों में से नहीं काम में से तो इस प्रकार शिव प्रभुपाल एक महा महा भगवत की पूरी कृपा मिलकर वज का दर्शन मिल गया तो शिल प्रभा दी महामहाभागवत परंतु महा महाभागवत हम भागवत की लीला में हम ऐसे देखते हैं कि वे साधारण व्यक्ति जैसे व्यवहार करते हैं और शुभ भक्तों की कृपा प्राप्त करने के पश्चात उनकी शुद्ध शुद्ध भक्ति प्रकट करते हैं तो शिल प्रभुपा तो कैसे प्रचार किए पूरे विश्व में उसमें स्पष्ट कि वे साधारण भक्त नहीं थे नित्य सिद्ध महाभाव थे परंतु उन्होंने कहा कि मैं मेरे गुरु महाराज से कृपा मिली प्रचार करने के लिए तो क्या शिव पर झूठ गलत है नहीं शिव पर नित्य सिद्ध महाभागवत है और उन्होंने शक्ति मिली उनके गुरु के चरण से कृष्ण भक्ति प्रचार करने तो दोनों बात सही हम्म। तो वृंदावन और गोवर्धन प्रमुख कैसे करना है तो मतलब भावना के लिए में ऐसे पढ़ो यमुना स्नान का महात्मा यमुना नदी प्रेम स्वरूप नहीं है जल के रूप में प्रेम उसका जल में स्नान करने से हम प्रेम के साथ युक्त होते हैं तो ऐसे यमुना स्नान करने से हम यमुना की कृपा मिलते हैं तो इसलिए यमुना राधा कुंड का स्नान करना अनुमोदित है लेकिन वो प्रेम प्राप्त करने के लिए योग्यता मिलना चाहिए तो हरिनाम हरिनाम भी प्रेम का स्वरूप है हरे कृष्णा हरे कृष्णा ये सब शब्दों में ये सब शब्द तो साधारण शब्द नहीं है चिन्मय शब्द कृष्ण और कृष्ण का नाम अभिन्न है कृष्ण प्रेम स्वरूप है कृष्ण का नाम प्रेम स्वरूप है हम्म। कृष्ण कीर्तन जाए प्रेम निदान प्रेम विधाता ये सब नाम लोग ठाकुर प्रेम विधाता प्रेम निदान और कृष्ण कीर्तन को व्यक्त हैं <coughs> तो कृष्ण नाम प्रेम का स्वरूप है यमुना जाओ प्रेम का स्वरूप है तो कैसे वो प्रेम प्रेम से हम युक्ति करेंगे युक्ति का मतलब योग तो कैसे हम योग्यता मिलेंगे कैसे हम अधिकार मिलेंगे तो ऐसे हरि नाम करने से हम अधिकार मिलते हरि नाम करने के लिए यमुना स्नान करने से हम अधिकार मिलते यमुना में स्नान करने के लिए तो बार बार यमुना स्नान करने से हम प्रेम यमुना की कृपा प्रेम मिलते लेकिन यदि हम यमुना स्नान करते हरि नाम करते हैं ब्रजवास करते हैं और साथ साथ व्यभिचार करते हैं तो फल जो हो ब्रजवास करने से यमुना स्नान करने से वो फल मिलेगा बहुत समय के पश्चात इसलिए गंगा पराश हरे पश्चात है भगवान तुम्हार हम्म, दर्शन ही पवित्र करो ये तुम्हारा शुद्ध भक्तों की संगति से हम तुरंत शुद्ध हो सकते चैतन्य चरितमृत में कृष्ण कविराज कहते हैं श्री कुंड अर्थात राधा कुंड एक बार जय करे स्नान तो तार प्रेम राधा ऐसे अभी तो कि जो एक बार राधा कुंड में स्नान करते हैं तो प्रेम मिलते हैं किस प्रकार प्रेम और राधा जैसे कृष्ण के लिए प्रेम करते हैं तो उस प्रकार प्रेम मिलते সেই কুণ্ডে একবার যে করে স্নান S E I, and next word K U N D Shri Kunj जय एक बार करे स्नान हम्म, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त राधा कुंड में स्नान करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि हे राधा कुंड जो राधा से अभिन्न है मुझके मुझको प्रेम प्रदान करो श्री कुंडे शेखुंडे शेखुंडे जय एक बार करे स्नान थार राधा श्यामा प्रेम कृष्ण करेगा जो एक बार राधा कुंड में स्नान करते हैं तो वो व्यक्ति को भगवान कृष्ण प्रेम देते हैं किस प्रकार प्रेम राधा श्याम प्रेम मतलब राधा जैसे ही कृष्ण के लिए प्रेम करते हैं उस प्रकार प्रेम देते हैं कृष्ण जो राधा कुंड में स्थित तो हम देखते हैं कि बहुत भक्त राधा कुंड में स्नान करते हैं और स्नान करने का समय प्रार्थना कहते हैं कि हे राधा अभिन्न राधा कुंड मुझको प्रेम प्रदान करो लेकिन राधा कुंड स्नान करने के पश्चात स्नान करने के पहले जैसे था वैसे रहते तो इसका अर्थ क्या है कृष्णदास कविराज गोस्वामी झूठ लिखते या सब प्रेम जो कृष्ण प्रदान किया है और नहीं है विश्व का भंडारण जैसे थैल निकालते हैं भूमि से तो समाप्त हो जाए प्रेम समाप्त हो गए और नहीं शॉप क्लोज और लगते ही इसका बहुत गहरा अर्थ है तो भक्ति से ढंग रविशंकर ठाकुर उन्होंने कहा कि वास्तव राधा कुंड स्नान है चिन्मय शरीर में स्थूल शरीर में ही राधा कुंड स्नान नहीं करना इसका अर्थ है कि जब तक विषय छय कभी शुद्ध हमें मन हमारे से नहीं किया तब तक वास्तव राधा कुंड स्नान नहीं होगा इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके शिष्यों को उपदेश दिया और राधा को स्नान करो रूप गोस्वामी का उपदेश उपदेश राधा को स्नान करो और रूप गोस्वामी का एक और बहुत ही प्रसिद्ध मार्ग का पुस्तक है भक्ति समृद्ध सिंधु भक्ति सिद्धांत ठाकुर का उपदेश है कि राधा कुंड स्वयं करो कैसे भक्ति समृद्ध सिंधु में तो भक्ति समृद्ध सिंधु में रूप गोस्वामी नवीन भक्तों कनिष्ठ भक्तों को विधि भक्ति के सब नियम हमको दिए हैं जिससे हमारा शुद्धिकरण हो तो धीरे धीरे हम अधिकार में रहेंगे कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए तो ऐसे नहीं है कि हम हमारा सब काम क्रोध इत्यादि लेके प्रेम का राज्य में प्रवेश कर सकते हैं तो जो इच्छा होना चाहिए काम क्रोध इत्यादि परित्याग करने के लिए काम क्रोध लोभ मोह मादा काम क्रोध लोभ मोह मादा दी अभिष्ट ऐसा न चले की से पावे राधा कृष्ण भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि जब तक काम क्रोध इत्यादि हृदय में स्थित हो जब तक राधा कृष्ण प्रेम प्राप्ति कैसे हो तो यही विषय है तो इंस्टेंट मैजिक प्रेम नहीं होते हैं हो सकते हैं शिल प्रभा कही बार बोले कि हम एक क्षण नहीं पूरा कृष्ण भावना भावित हो सकते एक क्षण परंतु हमारी इच्छा नहीं एक बार एक भक्त शिल प्रॉपर से पूछा कि माया इतना बलवती होते हैं क्यों माया इतना मजबूत होते हैं क्यों तो शिल प्रभुपाद उत्तर दिए थे कि क्योंकि हमारा उद्देश्य हमारा प्रयास मजबूत नहीं है तो वृंदावन जाना अच्छा है समझना चाहिए कि व्रज भाव का सारांश क्या है अहितु की सेवा भाव भाव नंद महाराज यशोदमाई गोपियाम और सब व्रजवासियों क्यों से व्रजवासी नंद महाराज व्रज में है वैकुंठ में नहीं है क्यों क्योंकि उनकी सेवा सेवा के लिए उनकी भावना इतना तीव्र है कि उनका उचित स्थान है ब्रह्म हम अभी योग्य नहीं है तो हमारी भक्ति तीव्र होना चाहिए अपना सुख दुख लाभ नुकसान ये सब का स्वार्थ ये सब विचार नहीं करना चाहिए हमारी भक्ति पूरी अहितु की होना चाहिए विषय चर्या को भी शुद्ध हो तब मन शुद्ध हो तब हम पूरा योग्य तक मिलेंगे वास्तव व्रत सेवा करने के लिए ये प्रश्न है आचार्य गोस्वामी के मंदिर अच्छा जो मंदिर है वहाँ हमें जाना चाहिए हाँ, वृंदावन में बहुत मंदिर है जिसमें कुछ प्रसिद्ध प्रख्यात और मुख्य है विशेषकर जो हमारा पूर्वाचार्य शरण गोसाई ने स्थापना किया है रूप गोस्वामी का गोविंद मंदिर जीव गोस्वामी दामादा मंदिर श्यामानंद प्रभु श्याम सुंदर मंदिर गोपीनाथ मंदिर मधु पंडित कृष्ण बालाराम मंदिर शिल प्रभुपात तो ऐसे ये मुख्य मुख्य हाँ, राजहरमन विशेषकर जो हमारा भक्ति विनोदार राधा रमन मंदिर राधा आश्रम महात्मापुर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने स्थापन किया सनातन गोस्वामी का मदन मोहन मंदिर तो ये सब का दर्शन करना चाहिए अच्छा है इस बार मैं नहीं गया था मैं कल ही कितना चार पांच दिन वृंदावन में था और शिल की दूसरी सेवा में व्यस्त था एक्चुअली मैं भारत में रहता हूँ लेकिन लगते है मुझसे अन्य भक्तों जो विदेश से आते हैं तो मुझसे और बहुत भी तीर्थ यात्रा परिक्रमा व्रज दर्शन करते हैं एक्चुअली मैं कम करता हूँ तो व्यस्त रहता हूँ दूसरी सेवा में ये सब करना चाहिए अगर आपके पास समय हो तो करो लेकिन इतने सरल है नहीं है कि हम एक दो महीना वृंदावन में रहे शायद कार्तिक के लिए रह सकते लेकिन मेरा विचार है कि मैं कार्तिक महीने में राज्य में रह सकता हूँ तो वो अच्छा होगा लेकिन लगते वृंदावन में रहने से बाहर जाना प्रचार के लिए उससे शिल प्रभाव और बहुत संतुष्ट हूँ और मेरे जीवन का तात्पर्य है यसे प्रसादा तो भगवत प्रसाद एक्चुअली मुझे वृंदावन के बारे में इतना सा जानकारी नहीं मैं जानता हूँ कि यही सूत्र है यसे प्रसादा तो भगवत प्रसाद यदि हम प्रयास करते शिल प्रभुपाद की सेवा करना विशेषकर भक्ति प्रचार करने के लिए तो शिल प्रभुपाद का आदर्श के अनुसार शिल प्रभुपाद जो वृंदावन में रहते थे और वृंदावन के बाहर गए हैं क्योंकि असंख्य पथित जीव है जो वृंदावन के बारे में कुछ भी जानकारी कुछ भी नहीं है रुचि भी नहीं है तो हमारा प्रयास है कि वे व्रज धाम जय तो आप सब जय और मेरा विनती है ये फति जी मैं आपसे और बहुत फतिक हूँ परंतु मेरे गुरु महाराज महाभागवत है और मुझको आदेश दिया आप जैसे व्यक्ति के चरण पर प्रार्थना करना तो व्रज चलो हरिनाम करो व्रज दर्शन करो और व्रज व्रज से वो कृपा जो मिलते हो उससे मुझको एक भाग दो <laughs> इस प्रकार हम वृंदावन की कृपा मिलेंगे और शायद शरीर जब पूरा वृद्ध होगा उस समय प्रचार का यात्रा करना संभव नहीं हो तो उस समय तो वृंदावन या मायापुर वास करो तो अभी तक शरीर में कुछ शक्ति है अच्छा हो हम प्रयास करेंगे शिल प्रभुपात का प्रचार का मिशन कुछ करें राज्य में भी प्रचार कर सकते वो भी संभव है बुक डिस्ट्रीब्यूशन आने वाले यात्रियों को और अगर आप एक महीना पूर्ण वृंदावन में रहेंगे तो ज्यादा हरि नाम करने के लिए इत्यादि वो अच्छा हो कार्तिक खास कार्तिक महीने में लेकिन उस समय प्रार्थना होना चाहिए कि हे वृंदावन चंद्र हे वृंदावनेश्वरी श्री राधा मुझको शक्ति प्रदान करो जिससे मैं आपका नाम गुण रूप लीला और धाम के बारे में प्रचार करने में मजबूत हो सकते तो ऐसे व्रज दर्शन करना चाहिए अभी सौ बारह है और साढ़े बारह हम मंदिर जाएंगे आरती के लिए तो उसके फायदे में सभी भक्तों को दुबई दामोदर देश के भक्तों का कैलेंडर ऊपर है दुबई से दुबई से आने वाले भक्त कौन है नारायण नित्यानंद नवनीत हमारे बीच चले गए क्यों और नवनीत तो चौर है नवनीत तो चौर दास हाँ हमारे बीच अभी दो चोर है नवनीत तस्कर और नवनीत चोर लेकिन नवनीत चोर को नहीं देखा हाँ? चित्र चोर भी है तीन चोर है हम मधुराष्ट्रकम हैं नहीं वो वल्लभाचार्य की रचना है बालाभाचार्य एक एक्चुअली बहुत कीर्तन रचना की उसमें ये माधुर बहुत प्रसिद्ध है एक ही चौर आग्रगंध अष्टकम चौर अग्रगंध चौर अग्रणी अग्रणी का मतलब मुख्य तो कैसे कृष्ण चौर है तो एक कीर्तन में तो चित्त चौर है गोपियों का राष्ट्र का चौर है राजभाषी उनका मकन के चौर ऐसे तो शायद हम एक बार उसको भी गाएंगे चौरागर गांधी अष्टकम और बहुत सुंदर गान ललभाचार्य ने रचना की यमुनाष्टकम एक्चुअली इस वर्ष संस्कृति में बहुत बहुत केवल एक बूंद को चूते हैं बहुत बहुत है बालकाचार्य यदि वो श्रीमद भागवत से श्री कृष्ण के सब नाम उधार किया और ऐसे एक छोटी सी आ, क्या है स्तुति बनाया श्री कृष्ण का सब नाम जो भागवत में है बहुत है तो ऐसे बाबा आचार्य वो सब वैश्व आचार्य थे बहुत कुछ किए हैं जगत का कल्याण के लिए सो हाँ क्या दुबई दामोदर जैश के भक्त और भी है उठेगो के लाया है हाँ। तो हर एक साल दामोदर जैश के भक्तों इस प्रकार सुंदर कैलेंडर बनाते हैं इस साल श्री विग्रह विषय है श्री विग्रह राधा रस Hari Jagannath Baladev Subhadra ISKCON Baroda Gaur Juhu Juhu Sitaram Lakshman Hanuman Juhu Prahlad Narasimha Germany Radha Shyam Sundar Hungary Jagannath पुरी धाम के जगन्नाथ आदि जगन्नाथ कृष्ण बालाराम कौन सा कहा कृष्ण बालाराम न्यू मायापुर फ्रेंड्स जो वृंदावन से अभिन्न है राधा लंदनीश्वर कहाँ है लंदन प्रभुपाद ऐसा नाम रखा वह था लंदन ईश्वर कौन से शास्त्र में है श्रीनाथ जी कहा है नाथवाड़ा चौपाटी अहमदाबाद न्यू वृंदावन तुलसी महारानी वृंदकम श्रीखंड तत्व श्रीधाम महापुर तो ऐसे एक एक कैलेंडर एक एक फैमिली को please don't take more than one आपको चोर नहीं होना चाहिए सो so, और जो ब्रह्मचारी है आप सब शुद्ध भक्त है तो आपका मन नहीं सजाएगा कृष्ण का दर्शन मिलते और आपका घर नहीं है सो केवल गृहस्थ भक्तों को देता हूँ सो अगर आप लेंगे तो यहाँ यस सो आइए सर हरे कृष्ण